अनुविधि अनुजन सुखकारी जय मत मलिन विषय बस कामी प्रभु कर मोह धरहीन स्वामी नयन दोष जा सांग बहुई

बस हथ बस संशय करणी निज अज्ञान राम पर धरणी काम क्रोध मद लोभ रत रूप Thank you. ते जान रघुपति मूर करे तमकूप निर्गुण रूप सुलभयती सगुण जान नहीं कोई सुगम गमनाना चरित्र yeah. करता है तो परमात्मा निर्गुण बुद्धि है और सगुण बुद्धि है दोनों उसके लिए संभव है तो सगुण रूप परमात्मा के संबंध में कुछ और बताते कहते हैं अस रघुपति लीला और गारी भगवान जो है सगुण रूप धारण करके जो लीलाएं करते हैं वो भगवान की ऐसी ही लीलाएं हैं जैसी अभी परमा की कैसी जैसे कोई नट नृत्य करता हो नाटक करता हो जैसे कोई एक्टर एक्टिंग करता है हो इसी प्रकार को भगवान कोई गुरु धारण करके एक्टिंग करने लगते कहीं मत्स्य अवतार है कहीं कक्षक अवतार है कहीं मुसलिया अवतार है कहीं विशेष रूप से माधुरी लीलाएं हैं कहीं ऐश्वर्य लीलाएं हैं इस प्रकार की तरह तरह की लीलाएं मनुष्य गुरु धारण करके वारणा शक्ति रूप धारण करके तरह तरह गुरु रूप धारण करके अवतार लेते रहे तो कहते भगवान की लीला ऐसी ही हमारे जो अवतार लेते हैं शरीर धारण करते हैं तो भी उनको कुछ अपने स्वरूप का बोध भूल नहीं रहता है वो जानते स्मरण रहता है उनको कि हम तो परमात्मा स्वरूप ही है नित्य मुक्त स्वरूप जाना स्वरूप है उनको अपनी सत्ता का स्वरूप का भली भाग स्मरण निरंतर बना रहता है और फिर उनकी लीलाएं भी चलती रहती है तो हम लोग देखने वाले भगवान की ऊपरी लीलाओं को देखते हैं भगवान के आंतरिक रूप को नहीं देखते तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं कहते हैं एक तो होते हैं धनुष और दूसरे होते हैं जन एक तो जो हुए एक तो आखिरी संपत्ति के लोग हुए दूसरे दैवी संपत्ति के हुए जो आखिरी संपत्ति के लोग होंगे वो तो अपने अभिमान में रहेंगे संसार में ही लिप्त रहेंगे विषयों में खड़े होंगे ऐसे व्यक्तियों को दिखाई देगा कि भगवान को साधारण व्यक्ति में मत रहे इनको क्या ये कोई परमात्मा खोले की मान हुआ मानुषी कलमा सकता की दिमाग मुखा मुझे लोग हो इसलिए मुझे मेरा अपमान ही करते अवहेलना करते हैं समझते हैं कि ये साधारण मनुष्य ऐसे गीता में कहते हैं भगवान वैसी बात यहाँ पर भी भगवान अवतार लेते हैं तो लोग समझ नहीं पाते ये परमात्मा है उनके चौकरों को देख करके गली विमोहन और वो विमोह में पड़ते हैं उनको भ्रांति होती है परमात्मा का परमात्मा की सत्ता का समझ नहीं आती और कोई कहेगी कि भगवान अवतार लिए हैं इस प्रकार की लीला करते हैं तो भी उनको विश्वास नहीं बनता कि परमात्मा कैसे ऐसे कर नहीं सकता ऐसी लीलाएं कर नहीं सकता लेकिन दूसरे लोग बंधन है लेकिन ये सबके लिए इस प्रकार के नहीं है जो लोग उसमें विश्वास नहीं रखते जिनके के मन में में थोड़ा भी नहीं है जिनके मन में स्वभाव भी है ऐसे लोग जो है वो भगवान में विश्वास नहीं करते और उनका ये भगवान के चरित्रों का लिए लाभ है उनको प्राप्त भी नहीं होता उनसे वंचित भी रह जाते हैं इस प्रकार संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं उनका भी कारण लोग गया दोनों के ऊपर भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है भगवान की लीलाएं ये ही वही लीलाएं कुछ मनुष्यों पर एक प्रकार का प्रभाव दूसरे पर दूसरे प्रभाव होगा ऐसा लगता है कि जो गणित स्वभाव के व्यक्ति हैं इनको तो ये लीलाएं और मोह में डालती हाँ? मोह में तो वो पड़े ही हैं और बी लगा दिया तो मैंने विशेष है मोहा हाँ विमोह ही मैंने ज्यादा मोह में डालने वाली संसार के मोह उनको वैसे पड़े थे और भगवान की लीलाएं फिर उनको और भी अधिक मोह में डाल देती मैंने कब लोग जैसे रावण था वो तो, तैयार हो गया भगवान से लड़ने के लिए जी का हरण करे और उनके साथ मिशन प्रपंच करे और फिर उनसे युद्ध करे ये सब के लिए तैयार हो गया मैंने भगवान को कई स्थितियां होती है एक तो ये कि भगवान की सत्ता को कोई मानता ही नहीं कोई सत्ता की भगवान की सत्ता शुद्ध होते हैं भगवान जैसे परम शुद्ध निर्विकार है उनका नाम भी परम पवित्र है उनके गुण भी परम पवित्र हैं उनकी लीलाएं भी परम पवित्र हैं उनके स्मरण मात्र से चित्त शुद्ध होता है पाप दूर होते हैं निर्विकार व्यक्ति होता है और परिसर से शुद्ध चित्त होकर के व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करता है तो वे मत मरण विषय कहानी आप देखो कहते हैं कि वे लोग जो लोग जिनकी जो बुद्धि मलिन है और विषयों के व्रत हैं कामनाओं से ग्रस्त हैं तो प्रभु पर लोग धरई जिन स्वामी है वे लोग लघु हो भगवान के ऊपर लोह का आरोप लगाते हैं कि देखो ये भगवान क्या भगवान भी होंगे तो भी लोग में बढ़ गए ऐसे करके बोले तो ये कहते उन्हीं को आरोप लगाते हैं प्रभु पर मोह ही स्वामी इसलिए उनके ऊपर मोह रखते हैं भगवान के ऊपर ऐसे जैसे कि दोष जाय कहूँ जब रोई पीत हरण सखी कहूँ का सोई लेकिन जिसको आंखों में दोष हो जाए मैंने पीलिया रोग हो जाता है तो वो पीलिया रोग तो जिसकी आंखों में दोष तो हो गया कि चंद्रमा तो खड़े हो गया लेकिन क्या कि चंद्रमा पीला हो गया मैंने चंद्रमा ही तो पीलिया रोग हो गया वही पीला दिखाई देता अपने आंखों को मैं पीलिया रोग को पता नहीं चलता और शास्त्रों में शंख के लिए भी बोला गया शंख ज्यादा प्रयोग करते रहते हैं पूजा में तो इसको पीला रोग हो जाता है तो बहुत शंख का प्रयोग करता है तो शंख जैसे उठाया फूकने के लिए जब पीला दिखाई देता वाह आज ये शंख का हो गया पीला कैसे हो गया अब ये नहीं समझे कि कैसा तो नहीं हमारे हाथ में पीला रोग हो गया है वो तो ये सोचे शख्स पीला कैसे हो गया ये कहते नैन जोश जाता है जब कोई पीत वरण सक अनेक प्रकार की आत्मा के संबंध में भ्रांतियां होती हैं उसके तो बराबर दिखाया जैसे जो आकाश में शंकराचार्य ने कि बादल जो है आकाश में उड़ते हैं चलते हैं तो बादल जब चंदना के ऊपर से निकलेगा तो ऐसा लगेगा कि चंदना चल रहा है बादल चलता नहीं लगेगा तो चंद्रमा चलता लगेगा तो चंद्रमा भाग रहा है ये भ्रांति के उदाहरण इस प्रकार से कई दिए मेरे मेरे प्रकार से आदमी सब भ्रांति के उदाहरण है तो ये कहते हैं जिस प्रकार के ये नाना प्रकार की जो भ्रांतियां हैं अज्ञानी व्यक्तियों को होती रहती है बिना विचार करने वाले व्यक्तियों को जो विचार जो तो मत नहीं है ऐसी भ्रांतियां क्यों होती है उसका कारण पहले बता दिया कि तनुगणित बुद्धि होने के कारण से सत्य न होने पर विचार करने में असमर्थता के कारण से व्यक्ति में जो भ्रांतियां अपने अपनी जो होती हैं दोष अपने में होते हैं वो अन्य जगत के ऊपर आरोपित करेगा परमात्मा का आरोपित करेगा दूसरे व्यक्तियों का आरोपित करेगा इस प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव ऐसे करके होता रहता है और दूसरी बात कहते हैं कि ये मतमान क्या है कि विषय दस है उसका कारण ये है विषयों को दस नहीं जो सब जिस पर शुरू प्राप्त इंद्रिय भोग है वो उन इंद्रिय भोगों को सुखदायी मान करके ये जो अधीन है ये विषय प्राप्त है कहीं हम सुखी न प्राप्त हैं तो दुखी ये विषयों की पराधीनता है और ये विषयों की पराधीनता तब तक रहती है जब तक उनकी कामना रहती है इसलिए कानून भी बोल दिया इन विषयों की कामना उन कामनाओं के कारण दुष्कों के बस और दुष्कों के बस होने के कारण मतमंद ऐसे लोग जो है वो संसारी लोग संस्कृति चलाते हैं ये लोग जो है ये सत्य को नहीं समझ पाते अपनी बुद्धि की मलिनता के कारण से ध्यान करने खड़े रहते हैं ध्यान जो होते हैं अपनी अज्ञान के व्यक्ति को जो होता है अपनी बुद्धि में अज्ञान होगा कोई ऐसा थोड़ा जब ज्ञान नहीं चला जा रहा है अपने से बाहर अपनी बुद्धि को जान है और अज्ञान कभी बाहर तो अपनी बुद्धि से बाहर ऐसे थोड़े अज्ञान होता है अपनी बुद्धि में रहता है अपने अपनी बुद्धि से अपने अपने अज्ञान को समझना पड़ता है तो कहते हुए अपनी तरफ से इनका नहीं कर सकते उनकी मीटर उनके वैस में होती अपने भीतर देखिए चाहे इतना कमी है क्या गड़बड़ी है तो उधर ध्यान नहीं जाता बाहर ही सब दिखा करते हैं लेकर तो कहते हैं विषयों का समूह देविया और सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा है भगवान को तो सपने में भी कोई मोह है अज्ञान नहीं लेकिन माया बसमती मंद अभागी हृदय जमनता बहुविधि लागी अब उसको फिर मिला सकता है देखो जो मतलब विषय पानी कि तो वह माया मत है ऐसे लोग माया से मत लें माया का प्रभाव जीव के ऊपर है उस माया के बस होने पर मतमंद है जो मतमंद है वो मतमंद ये मतमंद और अभागी बड़े दुर्भाग्य की बात है जीव के लिए कि मतमंद है तो अच्छी बात है एक तो दुर्भाग्य की बात है कि मतमंद हो गई और अपनी गलतियां अपने आप समझ में नहीं आती हृदय जो होने का बहुत लाभ यद्यपि परमात्मा शुद्ध मधु का सत्य हृदय विद्यमान है लेकिन उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ नाना प्रकार के पर्दे उसके ऊपर पड़े हुए हैं वो परमात्मा का जैसा शरीर है वो समझ में नहीं आता यवनिका हमें मतलब पर्दा यवनिका से कोई कहता है साई भी कहते हैं साई जैसे पानी के तालाब के ऊपर हरी साई बन जाए पानी ढक जाए तो वो साई भी जैसे जल को आवृत कर लेती है इसी प्रकार से यह एक आदमी चित्र के ऊपर कहा गया है चित्र में वह आत्मा को परमात्मा को आच्छादित किए हुए तो परमात्मा जैसा है जैसा उत्तर भगवान का सचिदान में बन रहे हैं जो विज्ञान धर्म इत्यादि है वो परमात्मा जैसा है उसे पता नहीं चलता है उसके प्रति जो है उसमें मोह उत्पन्न होता है उसके कारण से तो हृदय जमीनता बहु विधि मार्गी तो इसके मैंने ये इससे सूचित यही करते हैं कि एक तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि की मजमता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए साधना है तो दो मुख्य भाग है एक भाग है चित्त की शुद्धता समगुण दूर हो रजोगुण दूर हो सप्तगुण की वृद्धि हो तो फिर मन की मजमता दूर हो एक काम करिए और दूसरा ये है कि परमात्मा तत्व को ठीक ठीक समझे जो उसके ऊपर आग्रह करा हुआ है इस आवरण को अलग हटा करके अज्ञान आवरण को दूर करके ज्ञान के प्रकाश में आए तो अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का शरण ले बार बार चिंतन करे शास्त्रों परमात्मा कैसा कहा गया है जगत कैसा है जीव कैसा है उनका बार बार विवेचन करे अनुसंधान करे चित्र को में ठहरा है ये भी सब करे ये दोनों काम करे एक और चित्र की शुद्धता और दूसरी ओर परमात्मा का चिंतन उसकी खोज उसकी समझ परमात्मा का ज्ञान ये लगती है तो वो व्यक्ति माया से मुक्त हो उसकी बुद्धि की मूल्यता दूर हो उसके आग्रह बताया हुआ हृदय पर वो भी दूर हो ये अच्छा किसी ने अपने ढंग से कह रहे हैं शंकर जी ने बालकाल में कथा शुरू की पार्वती से कभी सब बातें वहां पर भी कह रहे हैं कहते हैं कि मुकुर मदन और नदी हुई है राम रूप देख रही दीना है ऊपर में नहीं मैंने सोलह रूपये बैठा लेना है दिखी हम्म? नाम किसी ने है नहीं शीशा खाने लोग बसंदे आदमी शीशा लेकर के बैठे उसमें दिखा दिखाई दे कहते हम्म? तो कहते हैं कि ऐसे है नहीं अब बर्तन में देखें तो क्या देखें क्या दिखाई दे मैंने हसन में भी दो बैठे में भी दो और इसी प्रकार से देखते हैं कि वहां पर भी अपने अंदर भी हृदय भी शख्स नहीं है और ज्ञान भी नहीं उत्पन्न हुआ ज्ञान के मत तो खुले नहीं और हृदय जो है शुद्ध हुआ नहीं तो लोग था बनी बनाया हम लोग इसलिए ये दोनों काम जो है ये है करने होते एक तो हृदय शुद्ध हो भगवान का नाम जपें शुद्ध कार्य करें पवित्र कार्यों में रहे मन बुद्धि को जिन जिन बातों को मन बुद्धि में मनुष्य आर्थिक इस प्रकार के कार्य में करें